જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना નરસિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद रुक जाइए अरे सॉरी बहन आगे हमें माफ़ करना हम लेट हो गए क्लास में आपके क्लास में लेट हो गए आपका क्लास है क्या नाता फैमिली और अलवर वाले का हाँ? जोधपुर वाले का दिल्ली वाले का पंजाब वाले का हम्म? राजस्थान तो है ही ना जोधपुर आ गया पूरा राजस्थान हम्म? हिंदी भाषी और यश नाता परिवार का सरू बहन चार चार दिन से यहाँ आए आप <laughs> पर स्कूल से रजा लेके आए <laughs> मांगने क्यों खड़े रहेंगे उसके बदले भाग आते हैं <laughs> नासिक से कौन कौन आया है हाँ, बेंगलोर वाली तू तो। अच्छा अच्छा नासिक ऐसे उसका चेहरा ऐसा ही है उसका अच्छा चेहरा मिलता जुलता होता है लेकिन शरीर मिलता जुलता नहीं है ये तकलीफ हो गई है <laughs> ये तकलीफ है <laughs> हाँ शरीर हमारा हमारे सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलता जुलता आ जावे यही आज्ञा धर्म की मकसद है क्या बताया पूरा आज्ञा धर्म की मकसद यही है और यही आज्ञा धर्म वीर प्रभु की आज्ञा है ये काल के अनुसार दादा भगवान के माध्यम से उनके प्रागट्य से ये उन्हें जो पावर ऑफ एटर्नी दिया गया था ऐसा आ गया है कुदरत के नाते ऐसा आ गया है साहब पदम जी पदम जी पदम बने हाँ? सिद्धम सिद्धम सिद्धम सिद्धम पंजाब से खूब आशीर्वाद है आप स्थानकवासी है स्थान आपने बताया था मुझे खूब कला हाँ Malerkotla Malerkotla Malerkotla वहीं रहते हैं ठहरे हम्म। तो आचार्य शिव मुनि जी के सब पद के नहीं वही ठहरे और विहार करते रहते हैं आपके गुरुजी કોણ હે જે બોલવાનું તમે કોણ તમે સમજાવો ને आप वो तो है वो तो निश्चय में है शुभ शुभम ने शुभम बताया क्या शुभम जी वो निश्चय में है हम जरूर लेकिन हम किसी के ऊपरी नहीं है महावीर भगवान ग्यारह गणधर को और प्रमुख गौतम स्वामी को और गौतम स्वामी मानते थे कि यह मेरा गुरु है महावीर भगवान अपनी बिना शब्द वाली बाणी से उसको बोलते थे कि आप व्यवहार से बोल सकते हैं हम आपके गुरु है लेकिन निश्चय में ऐसा नहीं है व्यवहार में गुरु का स्थान होता है और व्यवहार में होता है और निश्चय में वो सदगुरु हो जाते हैं और महावीर भगवान तो थे लेकिन ऐसे थे कितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ केवल ज्ञान अतिशय के कई कई प्रकार के फिर भी फिर भी वो सभी के होके रहे सभी के होके रहे वो संगम देव था ना उसका भी होके रहे तभी तो संगम देव को आखिर में आकर हाजिर होना पड़ा वो बा प्रभु वीर है वीर है बोलता वीर बोले हम्म क्या क्या उपसर्ग नहीं किए उन्होंने और हमारा सारा जैन समाज क्या मानता है कि बाहर भगवान को बहुत बड़े बहुत बहुत उपसर्ग हो और वर्धमान क्या बोलते हैं अरे मुझे एक भी उपसर्ग नहीं हुआ वर्धमान ऐसे बोलते थे और वर्धमान को सुनते भी थे और वर्धमान को जानते भी थे यही हमें दादा भगवान की शिक्षा मिली है शिक्षा शिक्षा बिना दीक्षा नहीं होती क्या बताया साहब शिक्षा बिना दीक्षा हाँ दीक्षा होते ही शिक्षा मिल जाती है अन्यथा शिक्षा लेने के लिए सरयूबेन के स्कूल में दाखिल होना पड़ता है आप हो गए हैं दाखिल वो बोलते हो गए हाँ <laughs> हाँ वहाँ तो मास्टर साहब लकड़ी भी रखते हाथ में है हाथ दर नहीं वो नहीं करते वो नहीं करते वो नहीं करते हाँ। वो सबके साथ क्लास में पढ़ते हैं <laughs> तो आनंद हो गया आप सबके समक्ष हम तो हाजिर ही थे लेकिन व्यवहार से आप लोगों को दिखाई नहीं पड़े तो हाजिर कैसे बोले जाते हैं बिना देखे दिखाई पड़े उसी को ही हाजिर बोलते हैं क्या बताया और वही हमारा शुद्धात्मा दृष्टि से देखना है हम्म। और वही हमारा शुद्धात्मा दृष्टि से सभी के अंदर सभी के शुद्धात्मा के साथ जुटे हुए रहना है ऐसे जुटे रहे रहे तो व्यवहार हमें कहीं कोई दिक्कत वाला मालूम नहीं होगा कभी भी नहीं व्यवहार का तो स्वभाव ही है कि दोनों तरफ से आना एक तरफ से हमें अच्छा लगाना दूसरी तरफ से मारना ओ पुद्गल का स्वभाव नहीं है क्या पुद्गल के साथ हमारा जो स्वभाव था इसीलिए ये पुद्गल इस ढंग से हमारे पास आया है क्यों कि जिस ढंग से ये पुद्गल के साथ रहे वो सब पुद्गल का स्वभाव नहीं था हमें पुद्गल को भी बिगाड़ दिया तो अभी वो स्वच्छ होने के लिए जन्म होना ही होता है और सारा जीवन के दरमियान उसको स्वच्छ होने देना चाहिए क्या बताया स्वच्छ महीना निर्जरा निर्जरा मैना काम निर्जरा क्या बताया स काम और पहले तो आगे क्या थे अकाम निर्जरा तो कुदरत से होती रहती थी लेकिन जो हो, निर्जरा होती रहती थी उसी समय वो पुद्गल को बिगाड़ देते थे हम जो समय निर्जा होती थी वही समय पुद्गल को बिगाड़ देते थे दोनों साथ साथ में बनते हैं ये बहुत बड़ी गहरी बात है हम्म? इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने माहिर भगवान के पश्चात पच्चीस साल सारा साल काल काल में व्यवहार में जो हुए क्रम मार्ग में माहिर भगवान के आज्ञा के अनुसार वो श्रीमद राजचंद्र जी हुए क्या बताया श्रीमद राजचंद्र जी हुए और जिन्हें उनका परिचय है कुछ थोड़ा जाना है उनको तो मालूम होगा ही तो ये श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया आसवा सो परिसवा जहां परिश्रवण होता है वहां ये आश्रवण होता है परिश्रवण महीना अकाम निर्जरा आसवा महीना अज्ञानता से हम दूसरे पुद्गल को हम उसको साफ कर लेके एक्सरसाइज से अच्छी ढंग से निकल जावे इसलिए उसको बिगाड़ दे उसके समय मालूम नहीं कि हम पुद्गल को बिगाड़ते हैं ताराचंद जी के गुरु जी <laughs> उनके गुरु जी है ताराचंद जी आए हैं अरे आपके गुरु जी है कि नहीं बोलो पक्का सत प्रसिद्ध पक्का <laughs> और ये सब आपके कौन है महागुरु जी <laughs> अरे रे क्या बता करे तो कितने दिन आए आप आप कितने कितने आए अलवर से 200 क्या बात करते हो किसमें बिठा के लेके आए <laughs> नाटा जी आपके आपकी सभा को रंग देख रहे हैं मतलब। माहिर भगवान केवल ज्ञान के पर्याय में भी हमेशा ओ समुद्र जैसा गंभीर से देहते होते हुए देह के साथ होते होते भी लेकिन उन्हें खुद नहीं करना पड़ा क्यों कि उनके तरफ से सभी देव देवियां कर देती थी सभी प्रकार के अतिशय थे उससे होता ही जाता था फिर भी उनका मुखारविंद पर अद्भुत परम शांतता का रस सभी को मालूम होता था उसको महावीर भगवान को देखते ही श्रणिक राजा महाराजा को बिल्कुल पानी था जम गया बिल्कुल जम गया और श्रणिक महाराजा को वो इतने वो महाराजा पद्म से कितने बड़े समर्थ हो उस समय के महाराजा थे सारा भारत में सबके सबसे समर्थ लेकिन वो सारा राजकीय जीवन के अनुसार उन वो महावीर भगवान से दीक्षा नहीं ले पाए महावीर भगवान से अर्थात गणधर देवों से महावीर भगवान सीधी दीक्षा किसी को नहीं मिली उनके अतिशयों से चंदन बारा को ये सदीक्षा मिल गई हुँ? हम्म? क्यों कि उनकी सगी थी क्या चंदन वाला क्या सकपन था साहब उसका सकपन क्या था भांजी हाँ? हाँ? अरे गुरु भक्ति है लेकिन सगाई थी ना व्यवहार की मामा की दिकरी बहन थी क्या हंसती है भगवान को बहन नहीं होती वो व्यवहार से तो होती है ना <laughs> निश्चय से चंदन मारे को लगा कि वो मैं खुद मुझे मिल गई ऐसा लगा ही क्योंकि ऐसा पुण्य था उसका ऐसा पुण्य था हुँ? हम्म? क्या बात कर दिए अरे हम रह गए क्या <laughs> हैं अच्छा और वो बद्रा सेठानी को दिखी ना <laughs> ये व्यवहार का सब नाटक है क्या शुभम जी बताया ये आपका पर्याय है ना संयम वो व्यवहार का नाटक है वो होना ही है अगर हमें मुक्ति मार्ग पर चलना है तो आज जो संयम पर्याय है वो साधु साध्वी जी का महाराज जी का आचार्य जी का उपाध्याय जी का सभी का और वैसे तो हिंदू धर्म में भी सभी का ये सभी मुक्ति के लिए ही सब जीवन जी रहे हैं लेकिन मुक्ति क्या है वो जानते ही नहीं क्या करें इस मुक्ति का सुख क्या है वो जानते नहीं क्या करें हे जरूर भगवान का दर्शन करके हमें मालूम हो जाता है कि कहाँ से ऐसी सुवास आती है अद्भुत चंदन की अद्भुत लेकिन कहाँ है चंदन तो हम ढूंढते ही रहते हैं चंदन को हुँ? हम्म? चंदन किसी के पास जाता नहीं लेकिन जो स्वयं जीवंत चंद्र चंदन की सुवास है जीवंत मानव देह के साथ साथ वो तीर्थंकर भगवान की ही होती है किसकी तीर्थंकर भगवान की तो सबको लगे क्या तीर्थंकर पर अकेले सो हम नहीं हो सकते हैं न कोई बात नहीं तेरी इच्छा हो जैसा हो जैसी तेरी इच्छा हो सकता है लेकिन तेरी इच्छा बरबर संभाल लेना तू उसका अकाउंट ऑडिटिंग पर व्यवस्थित रखते रहना बिहारियानंद स्वामी जी ठीक है ना वो तो रखना ही है किसके कि, किसके खातर दूसरे के खातर नहीं खुद के खातर कि जिससे जिसके कारण वो सभी का हो जाए जीव जंतु प्राणी सृष्टि सभी के ऐसी नहीं बात क्यों बोलती नहीं ऐसी है ना तो आज हमें आनंद हुआ आप सबके साथ होते हुए तो हमने संगपति जी हरीश भाई के साथ बताया कि दादाजी आप एक घंटा सत्संग करें मेरे को बरोबर है भाई एक तो क्लास में लेट आया हूँ सवा दस तो हो गए थे तो ऐसा तो सवा ग्यारह साढ़ा ग्यारह तो हो ही जाएंगे और बीच में पेट चलेंगे ना मैं कविराज के कविराज के पद चलेंगे ये आप तो बिहारी आनंद जी का है तो जी हाँ ये हम 24 तारीख से ये शिविर की शुरुआत हुई कितने सुबह 24 तारीख सुबह हम लोग 10 बजे से शुरुआत की क्योंकि लोग आने में थे हाँ एक एक दिन बीतता गया लोगों की प्यास बढ़ती गई करते करते लास्ट दिन हाथ में चम्मच मिली पानी भी मिला और वो पानी में ऐसा लगा कि समुंदर मिल गया सबको तो कविराज का पद है हाँ अच्छा एक પદ ચલાવે કવિરાજ કા પદ બોલેંગે वो ચમચી ધરી તમે સાગર છે ને એ ખબર છે ને ભરત हाँ हमें शेष बड़ा अच्छा पद है और दादाजी ये सारे जैसे जैसे दादाजी ये तीसरी शिविर है नाटा जी तीसरी शिविर है दादाजी एक एक साल उन लोग के कुटुंब में बढ़ते जा रहे हैं और यही बरबर है और दादाजी तीन दिन का जो सत्संग हुआ तो एक दूसरे जो नहीं आए उसको कहते तू बंद करके आ जा यार बहुत मजा आ रहा है तो बोलते चल अभी नेक्स्ट टाइम तो दुकान बंद ही रखना है इन लोग ने क्या किया है एक लड़के को वहां रखा है हाँ। रिलेटिव की कमाई चा, चालू रहे और साथ में ये भी कमाई चालू रहे इसी <laughs> को मोक्ष मार्ग बोलते हैं मोक्ष मार्ग इसी को ही बोलते हैं व्यवहार चलता रहे और हमारे मुक्ति पंथ से हम प्रयाण करते रहे और अच्छा और दादाजी अच्छा। इस बार इस शिविर में सबसे ज्यादा ज्ञान दीक्षा जिन्होंने पाई नहीं है हाँ। वो दो क्लास हुए हैं दादाजी कम से कम सौ के ऊपर तो हुई है ये सारा हाँ नए मतलब ज्ञान दीक्षा जिन्होंने नहीं पाई है तो उनका हमने दो क्लास किया है फिर ज्ञान एक क्लास अभी हाँ मतलब हमारा दादाजी एक एक घंटे का क्लास है अच्छा पौने दस से ग्यारह सवा ग्यारह से साढ़े बारह चार दिन से चलता चार दिन से चलता है और हमारे सात क्लासेस है सेवन क्लासेस सेवन क्लासेस हाँ जी उसमें छोटे बच्चों का अलग है ये जो आगे बैठे हैं उन छोटे बच्चों का हाँ। कितना कितना दिन चला सब दिन हाँ राइट फ्रॉम बिगिनिंग और उस उससे उससे बड़े बच्चे हैं उनका उनका भी एक क्लास अलग है और सबसे बड़े बच्चे हैं उनका उनका एक क्लास अलग है <laughs> क्या करें क्या सब लोग बच्चे हैं क्या बिल्कुल दादाजी <laughs> क्या लेकिन हमारे गागनाधर में कच्चे नहीं है बस हमारे शाह साहब बुलाते थे जी <laughs> क्या बुलाते थे हम हैं बोलिए सब हे भगवान हे भगवान हे दादाजी हे दादाजी हम हैं आपके बच्चे हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के हैं सच्चे फिर भी है कच्चे फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे कभी न पढ़ेंगे एक एक मिनट हाँ कभी न पढ़ेंगे कच्चे आज्ञा में कभी ना पड़ेंगे कच्चे आज्ञा में आज्ञा में बस बस हम्म। क्यों कि वितराग परीक्षा में शत प्रतिशत व्यवहार शुद्ध होना ही चाहिए क्या बताया लेकिन दादा भगवान खुद बताते हैं हमें कि हमें ही हम भी एक काल के अंदर पंचम काल है जहाँ यही शरीर से मुक्ति आत्यंतिक नहीं पाई जा सकती उन्हें तो पाली थी लेकिन पाली लेकिन ये देह के कारण वो व्यवहार शुद्धि परिपूर्ण शत प्रसिद्ध न हुई इसके कारण शरीर के साथ साथ शत प्रसिद्ध दर्शन के साथ केवल दर्शन के साथ सभी के साथ व्यवहार में रहना पड़ा क्यों कि उन्होंने उन, उन्हों की कल्याण भावना थी उन्हों की कल्याण भावना थी वो कल्याण भावना के आना पड़ा तो आनंद से रहे बचपन से ही रहे आनंद से सभी के साथ हुँ? हम्म? हुँ? हम्म? तो कल हमारे पिताजी और दादा भगवान बचपन से ही साथ में थे एक ही गांव में कारण और बिजनेस में भी साथ में रहे आखिर तक हुँ? हम्म? तो हमारे पिताजी के जन्मदिन की तारीख है कल तारीख महीना तिथि है वो बोलते हैं लेकिन वो रामनवमी के दिन की है तो हमारे पांच भाइयों ने नक्की किया कि अब कांति भाई आपा भाई पटेल हमारे पिताजी और अम्बालाल मुरजी भाई पटेल दादा भगवान व्यवहार और दोनों के तरफ से कल का दिन अनवर अलवर वालों से हमें छीन तो नहीं लिया लेकिन विनंती से मांगा कि पूरा उनके तरफ से होगा हम्म। दादाजी परिवार अलवर जी बताया दादाजी हाँ वही आ, रहा भीमसन जी आ रहा हाँ, दादाजी एक्चुअली बात यह है दादाजी कि कल कीर्तन भक्ति रखा है 24 हाँ। घंटे की उस किनके तरफ से भीमसेन जी अलवर अलवर भीम अलवर अच्छा अच्छा कल और भी चालीस लोग उनके कुटुंबी आ रहे हैं आ रहे सगे संबंधी सब आ रहे हैं कल और भी ये कीर्तन भक्ति रखा है अच्छा और दादाजी आप ये जो आपने कहा पिताजी का जन्मतिथि तो दो, सभी की भावना है मतलब सोमचंद नाटा परिवार की भावना है भीमसेन जी की तो 24 घंटे की कीर्तन भक्ति उनकी तरफ से है तो सभी को थोड़ा थोड़ा लाभ चाहिए सुबह में सुबह के प्रसादी में उसके बाद भीमसेन जी अकेले हैं जरूर जरूर अर्थात कीर्तन भक्ति शुरू करने से दादाजी हम ये सोच रहे हैं कि सुबह नौ से दस में हम आरती वगैरह कर दे हाँ। दस से ग्यारह आपका सत्संग रहे आ, हाँ, और ग्यारह बजे सवा ग्यारह से हमारा चालू कीर्तन किर... अच्छा ठीक है दादाजी ऐसे भी हमारी शिविर में विधि तो शुरुआत में होती है सुबह कहा यहाँ यहाँ छह बजे होती है तो हम आ जाएंगे नहीं नहीं नहीं लेकिन विधि का हमें लाभ लेना हो तो दादाजी आपको लाभ लेना है तो आप आ सकते हैं दादाजी आपको लाभ लेना है तो आप आ सकते हैं वरना दस बजे सुबह तो आप, आपका सत्संग रखा हुआ है डबल लाभ क्यों हम पक्का पक्का पक्का <laughs> नौ बजे तो फिर पहले ले ले कहा यहाँ कंटिन्यूटी हाँ तो दादाजी कंटिन्यूटी रहे हाँ। अच्छा ठीक है ऐसा करो तो ऐसा करो पीछे हम जाएंगे दस बजे तैयार हो गए पीछे ग्यारह बजे आएंगे और दरमियान आप क्या करेंगे दादाजी जैसे दादाजी दादाजी हम हमारा प्रोग्राम सुबह छह बजे विधि करके हम्म। आ, अच्छा आप छह बजे रखो आप चलो हमारा प्रोग्राम जो अच्छा है हाँ और समय अच्छा है और दादाजी अगर आपका नौ से दस सत्संग रख ले तो हम दस के बाद हमारी तो कीर्तन छह बजे रखो तो साढ़े पाँच बजे रखो ना साढ़े पाँच बजे क्या रखे एक कल्ला की विधि आएंगे और पीछे उसको ना, नाश्ता में ना, स्नान करके नाश्ता करो अच्छी ढंग से नहीं तो कीर्तन भक्ति कैसी होगी कीर्तन भक्ति दादाजी हम ग्यारह बजे शुरुआत करेंगे ओ और ये छह से सात साढ़े सात बजे तक हमारी चलो, ओके ठीक है चलो उसके बाद चाय नाश्ता बस बस ठीक है प्रोग्राम समझ गए हम हम्म, हम्म। निमिष भाई दस वाक्य तो राखी दादा हम कहीं के बाद जाहिर पर दस वाक्य तो हाजिर रहेंगे दादी दस बजे का हम दिखाई नहीं पड़ेंगे लेकिन हाजिर जरूर रहेंगे बस बस बस ये तो धर्म हमारा सबका धर्म नहीं है क्या हमारा सबका धर्म नहीं है हाँ जी मगर दा, दादाजी दस बजे तो दिखाई दे ऐसे हाजिर रहोगे ना आप <laughs> वो બકા पक्के पक्के दस भरत से- भाई, दादाजी भरत भाई, दस से पद- ग्यारह पद- पद ले लो। दस से ग्यारह जो अनाउंस कर चुके हैं हरीश भाई जरूर, और जरूर। इसके लिए वन अवर દાદાજી पीछे એટલા बेल માટે लगाना हाँ હા ને દાદાજી અમદાવાદથી હિંમતનગરથી સુરતથી બધા આવવાના છે ને બધાને દસ વાગ્યાનો આપણા સત્સંગનો ટાઈમ કીધો છે એટલે લોકો બધા આવી શકે ને બરાબર, બરાબર. એટલે દસ થી અગિયાર આપનો સત્સંગ ને અગિયાર વાગે કીર્તન ગોઠવણી ભક્તિ કરી છે. છે એટલે એમ જ હોવું બરાબર જોઈએ. ભરતભાઈ એક પદ લઈ લેશે દાદાજી जी એક પદ લઈ લે છે आइए एक मिनट हरीश दादाजी ये नाता परिवार का जो थोड़ा पूजन ये पद પદની चलता સાથે- है પદની और સાથે पूजन કીધું. भी હા કઈ કીધું पद के साथ साथ પદ ને સાથ ચલો પદ के साथ साथ सब आ जाओ अब बराबर चलाओ हाँ કયું કયું બોલ્યા આપણે હિન્દી હિન્દી હિન્દી પદ લઈએ છે हमें कोई अच्छी ढंग से बोल हाँ लेकिन गुजराती शब्द को समझ में आएगा पक्का जाओ આમની આમની ડિમાન્ડ એવી છે અમને ગુજરાતી નથી સમજાતું तो हिंदी वाला તો पद હિન્દી बोल- હિન્દીનું લઈએ દાદા બોલો જાઓ ઓ પુષ્પાબેન કુ પદ છે ને પુષ્પાબેન વાળું પદ છે ને दादाजी दादाजी मैं- જ્ઞાનનું બહુ સરસ છે બોલો पूजन एक दो में पद सिर्फ बोलो। सोमचंद जी के नाटा के परिवार ही पद बोलो तो रहेंगे सब उसकी बाकी हो के सब यहाँ यहाँ ही बैठेंगे खास विनंती नहीं मैं मैं सभी को विनती करता हूँ साहब दादाजी के मतलब नाटा परिवार भी बहुत बड़ा है पंद्रह बीस नहीं है डेढ़ सौ जने हैं मैं ये विनती करता हूँ हितेश जी जो आपके वडिल है वो पूजा कर ले बाकी सारे दर्शन करके उतर जाए क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा नाटा कौन है और बिन नाटा कौन है ये उसमें लड़की वाले भी उसमें है हाँ बताए व्हाइट ड्रेस और रेड ड्रेस पद्मावती माता का पूजन चलता हो ऐसे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो दूसरों की गलती देखो पुल है तो सजा खुद भोगो दूसरों की गलती न देखो भूल है तो सजा खुद भोगो अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो अनुभव लगता है हमको खुद अपनी गलती देखो छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने बच्चा किया छोटों पर बड़ों ने क्रोध अच्छा किया और माना हमने अच्छा किया और माना हमने अच्छा किया वहाँ मिल गई क्रोध को खुरा की मिल गई क्रोध को कोरा की मन में ज्वाला देखो तन मन में ज्वाला देखो जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी अब अपनी भूल को देखो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो चमचो ने सेठ को चढ़ा दिया चमचोरे सेठ को चढ़ा दिया फिर अपना काम निकाल लिया फिर अपना काम निकाल लिया फिर अपना काम निकाल लिया फिर अपना काम निकाल लिया है मान महाशत खुद का है मान महाशत्रु खुद का धन धन का अपव्यय देखो धन धन का अपव्यय देखो इस जग में संतों की तरह इस जग में संतों की तरह मान भी सहना सीखो अपमान भी सहना सीखो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो देखो दूसरों की गलती न देखो भूल है तो सजा खुद भोगो भूल है तो सजा खुद भोगो ये विश्व फसा है माँ विश्व फसा है माया में शरीर भी अपना ही नहीं यह शरीर भी अपना ही नहीं यह शरीर भी अपना ही नहीं यह शरीर भी अपना ही नहीं मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम मैं शरीर हुआ है जीव का मैं शरीर हूँ वो है जीव का हम मैं शरीर हुआ है जीव का रचता है जगत जीव देखो रचता है जगत जीव देखो पानी वृद्धि के द्वंद्व की हानि वृद्धि के द्वंद्व की झंझट से निकलना सीखो झंझट से निकलना सीखो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको अपनी गलती देखो दूसरों की गलती न देखो दूसरों की गलती न देखो भूल है तो सजा खुद भोगो भूल है तो सजा खुद भोगो गम भू बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया अपनी बुद्धि बुद्धि से फसा दिया अपनी बुद्धि से फसा दिया अपनी बुद्धि से फसा दिया ऊपर से माना अच्छा किया ऊपर से माना अच्छा किया महालोभ की भीड़ गुच देखो महालोभ की भीड़ गुच देखो को जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरण जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरण गलन में करम रज देखो गलन में करम रज देखो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो दूसरों की गलती न देखो दूसरों की गलती न देखो तो सजा खुद भोगो भूल है तो सजा खुद भोगो मैं शरीर हूँ वो है जीव का हम मैं शरीर वो है जीव का हम रचता है जगत जीव देखो रचता है जगत जीव देखो मानी वृद्धि के द्वंद्व की हानि वृद्धि के द्वंद्व की झंझट से निकलना सीखो झंझट से निकलना सीखो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન जयकार हो आदा भगवान ना सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन પથ પર જીવન અર્પણ હો સારા જીવન અર્પણ હો સારા દાદા હમારે જીવન પથ પર દાદા હમારે જીવન પથ पर प्रेरक बल हो सा तुम्हारा प्रेरक बल हो सा तुम्हारा बड़े चले हम रुके न क्षण भर बड़े चले हम रुके न क्षण भर हो यह दृढ़ संकल्प हमारा दादा की बानी अमृत पीकर दादा की बानी अमृत पीकर बिखरा देंगे प्राण पियारा बिखरा देंगे प्राण पियारा દાદા તુમારે પાવન પથ પર દાદા તુમારે પાવન પથ પર જીવન અર્પણ હો સારા જીવન અર્પણ હો સારા इस दुनिया को हम निर्विकल्प बना पाए निर्विकल्प बना पाए इस जग के कल्याण निमित्त सत इस जग के कल्याण निमित्त सत क्रम अक्रम विज्ञान ज्ञान विशाला ओ अक्रम विज्ञान विशाला दुनिया का आत्मा केंद्र दुनिया का आध्यात्म केंद्र रोजा संयम प्राप्त स्वधारा रोजा संयम भाप स्वधारा दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण सारा जीवन अर्पण हो सारा राह में चलते कदम खुदा के राह में चलते कदम खुदा के हो मन वच काया की शुद्धि हो मन वच काया की शुद्धि प्रति प्रतिक्रमण की सुभावना से प्रतिक्रमण की सुभावना से अतिक्रमण हम धोते जाए अतिक्रमण हम धोते जाए દર્પણ હો બેદાગી આત્મ દર્પણ હો બેદાગી આત્મ सच पुरुषार्थ सुहाना हो यः सच पुरुषार्थ सुहाना पंच परमेष्टि भगवन् सन्मुख पञ्च परमेष्टि भगवन् सन्मुख अपना ही परमात्मा न्यारा अपना ही परमात्मा न्यारा दातु तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो व्रत बन जाए चारित्र व्रत बन जाए केवल आत्मा में ही उपयोग केवल आत्मा में ही उपयोग दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए निश्चय की यह नाव न डूबे निश्चय की यह नाव न डूबे मिल जाए वरदान तुम्हारा मिल जाए वरदान तुम्हारा श्रद्धा की जल हर ज्योति से श्रद्धा की जलहर ज्योति से निकाली व्यवहार हमारा निकाली व्यवहार हमारा दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि चारित्र सिद्ध हो जाए चारित्र सिद्ध हो जाए रत्नत्रय निज त्रिवेणी तपसे रत्नत्रय निज त्रिवेणी तपसे भावी भव ही मिट जाए भावी भव ही मिट जाए रिलेटिव रियल देखेगा रिलेटिव रियल देखेगा केवल आत्म स्वरूप हमारा केवल आत्म स्वरूप हमारा भग्न अनादिरा बीतेगी अग्न अनादि रात बीतेगी होगा चार गति में उजाला होगा चार गति में उजाला दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन અર્પણ હો સારા જીવન અર્પણ હો સારા દાદા તુમારે જીવન પથ પર દાદા હમારે જીવન પથ પર દાદા હમારે જી जीवन पथ पर दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा शासन रक्षक देवी देवो शासन रक्षक देवी देवो शासन रक्षक રક્ષક દેવી દેવો શાસન રક્ષક દેવી દેવો શાંતિ દૂત બન કર આવો શાંતિ દૂત બન કર આવો શાસન રક્ષક દેવી દેવો શાસન રક્ષક દેવી દેવો શાંતિ बन कर आओ शांति दूत बन कर आओ आप कृपा की पवित्रता से आप कृपा की पवित्रता से धर्म ध्वजा को लहराओ धर्म ध्वजा को लहराओ लोकाग्रे आकाशी पथ से लोकाग्रे आकाशी पथ से निर्दित मुक्ति सुख सुख की धारा नर्तित मुक्ति सुख की धारा आशीष द्यो हाजिर तीर्थंकर आशीष द्यो हाजिर तीर्थंकर बरसो प्रेम स्वरूप करुणा बरसो प्रेम स्वरूप करुणा आशीष द्यो हाजिर तीर्थंकर आशीष द्यो हाजिर तीर्थंकर सो प्रेम स्वरूप करुणा बरसो प्रेम स्वरूप करुणा दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन જીવન અર્પણ હો સારા જીવન અર્પણ હો સારા દાદા जीवन पथ पर दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा बड़े चले हम रुके न क्षण भर बड़े चले हम रुके न क्षण भर हो या दृढ़ સંકલ્પ મારા હોય દ્રઢ સંકલ્પ મારા દાદા કી બાની અમૃત પીકર દાદા કી બાની અમૃત પીકર પીકરા દેંગે जग के कल्याण निमित्त सत इस जग के कल्याण निमित्त सत हो अक्रम विज्ञान विशाला ओ अक्रम विज्ञान विशाला दुनिया का आध्यात्म केंद्र दुनिया का आध्यात्म केंद्र पूजा संयम પ્રાપ સધારા ઓજા સંયમ પ્રાપ સધારા દાદા તુમ્હારે પાવન પથ પર દાદા તુમ્હારે પાવન પથ પર જીવન અર્પણ હો સારા જીવન અર્પણ હો સારા દાદા जीवन पथ पर दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा राह में चलते कदम खुदा के राह में चलते कदम खुदा के हो मन वच काया की की शुद्धि हो मन वच काया की शुद्धि प्रतिक्रमण की सुभावना से प्रतिक्रमण की सुभावना से अतिक्रमण हम धोते जाए अतिक्रमण हम धोते जाए आत्म दर्प लागी आतम दर्पण होवे दागी होय सच पुरुषार्थ सुहाना होय सच पुरुषार्थ सुहाना पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख अपना ही परमा परमात्मा न्यारा अपना ही परमात्मा न्यारा दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा નહીં જગાએ નહીં દિશાએ નહીં જગાએ નહીં હવા હમ ફેલાએ નહીં હવા હમ ફેલાએ વિકલ્પી इस दुनिया को हम विकल्पी इस दुनिया को हम निरिकल्प विकल्प बना पाए इस जग के कल्याण निमित्त सत इस जग के कल्याण निमित्त सत क्रम विज्ञान विशाला हो क्रम विज्ञान विशाला दादा तुम पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण ભગવાન સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जय सच्चिदानंद सभी को विनती दादाजी हमारी वजह से इतना श्रम उठा रहे पहले एक बात ध्यान में रखो हमारे लिए यहाँ तक आए आप सभी को व्यक्तिगत दर्शन दिए आज इस उम्र में मैं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा ये मैं भली भांति मेरे लिए जानता हूँ मैं फिर भी आज दादाजी के आपके प्रेम की वजह से आपके साथ इतना श्रम उठाया है मैं सभी को विनती करूँगा आपको जो लाभ मिला है वो हमें गुजरात वाले को भी लाभ नहीं मिलता है और इसी तरह आपको दर्शन मिले तो प्लीज़ अब दादाजी को कम से कम श्रम पहुंचे उतनी हमारी प्रार्थना स्वीकार करो दूसरी बात जिन्होंने ज्ञान विधि में नाम लिखवाए हैं उनको बारह साढ़े बारह बजे खाना खा लेना है और ढाई बजे ढाई बजे ज्ञान ज्ञान कुंज में सामने दादाजी जहाँ रहते वहाँ जिनका नाम है उसी को ही जाना है प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत लगाना मुझे पता है आप सभी को ज्ञान लेना है आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं फिर भी हमें दादाजी की तंदुरुस्ती का भी ध्यान रखना है साढ़े बारह बजे के बाद खाना कम खाना है कम खाना खा के ढाई बजे वहाँ पे पहुँचना है चाहो तो आधा घंटा रेस्ट भी ले सकते हो अभी दस मिनट के बाद साढ़े ग्यारह बजे अपने अपने क्लासरूम में जाना है साढ़े बारह बजे तक सत्संग है इंटरवल नहीं रखा है मैंने जी नहीं कोई बात नहीं बात करो जो सूचना सूचना बता दो हाँ? तो एक पाँच मिनट लेंगे अच्छा हेमा बहन हेमा लुकर कल लेंगे आपका हाँ दो हाँ, तो लो तो रखो चलो अभी साढ़े ग्यारह बजे हाँ, सभी को अपने अपने क्लास में जाना है साढ़े बारह बजे तक सत्संग है उसके बाद खाना और ढाई बजे जिसका ज्ञान विधि में नाम है उसको वहीं रहना है दादाजी हमारे साथ है कल भी हमारे साथ है कल सुबह भी दस से ग्यारह सत्संग दादाजी का है सभी को लाभ मिलने वाला है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे है सब एक तो ये जोधपुर वाले जिन्होंने बड़ा हार दिया एक सोमचंद जी के दामाद महावीर शाह दादाजी सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और दर्शन का लाभ लेंगे कोई भी महात्मा खड़े नहीं रहेंगे आराम से बैठे रहो और दर्शन करते रहो दादा भगवान ना असीम जय दादा भगवान ना असीम जय का शांति शांति एक मिनट शांति मोक्ष प्राप्त हुआ है हमें को हमें जिसको प्राप्त हो सभी को आज जिसे प्राप्त होने वाला है वो तो है ही लेकिन आपका निश्चय नक्की हो गया है तो प्राप्त हो गया है समझ लो और कभी भी विदाई मत दो किसी को भी मोक्ष वाले को कभी मत दो स्वागत ही करो हमेशा क्योंकि वो विदाई होते ही नहीं चलो जय सचिद जय सच्चिदानंद દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન